लङ्का निश्चि निवासा यहा कहाँ सज्जन करवासा मनमहतरकर कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम तेहि सुमिरन केन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चिह् सन सनहठ कर पहचाने साधते हो इन कार जहानी लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे उसी समय विभीषण जी जागे उन्होंने विभीषण से राम नाम का स्मरण उच्चारण किया हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती प्रत्युत लाभ भी होता है विप्ररूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए कर प्रणाम पूछे कुशलाए विप्र कहु निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति यति होई कि तुम राम दीन अनुरागे आय सुमोहि करन बड़ भागे ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कहिए क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं तब हनुमंत उभय तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए सुनहु पवन सुत रहनि हमारे जिमिदसननि महजे भविचारे तात कबहु मोहि जानिय नाथा करिहै कृपा भानुकुल नाथा तामस तन कछु साधन नाहे प्रीति न पद सरोज मन माहे अब मुहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता विभीषण जी ने कहा हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते जो रघुबीर अनुग्रह के तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा सुनो विभीषण प्रभु कै रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिना प्रात ले जो नाम हमारा तह दिन ताहि न मिलय आहारा जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं हनुमान जी ने कहा